आप कह दें अगर तुम मेरे रब की रहमत के ख़जानों के मालिक होते तब खर्च हो जाने के डर से तुम उन्हें ज़रूर रोके रखते और इंसान बड़ा ही बकील है